श्रीपूर्णानन्दतीर्थस्फुरनमृतगम् दुःखुषाफलायितानाम् नास्माकम् मोक्षचिन्ता प्रपीडितमनसाम् ब्रह्मभावम् गतानाम् किम् त्वेषा वत्सङ्गम् तन्वनिति प्रतिपदमधु तावनव्यञ्जयामः पूर्वादलद्युतितनुम् करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषण भूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् मूर्तिम् ओ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मायातीतम् माधवमातीयम् जगदादिम् मानातीतम् योग विधान परिपूर्ण वंदे राम श्लोक रमणीयम् व्यक्ति की कुसंग से नीच संग से कितना गिर जाता है इसका उदाहरण है कैसे पहले आपको सुनाया कि उसके मन में श्री रामचंद्र के प्रति बड़ा भारी प्रभाव था वो स्वयं कहती है कि राम से भी अधिक प्यारे भरत हैं परंतु उसका मन गुजारने वाली मनता आ गई और उसने उसके मन को गुजार दिया तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से कथाएं गई हैं एक कथा तो यह है कि रामचंद्र ने ही कैसे को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि वो बंधमन का वरदान मांगे ये भक्त का दृष्टिकोण हुआ ये बड़े भारी सद्भाव का दृष्टिकोण दूसरा दृष्टिकोण ये हुआ कि मंथरा के धन से कैकेयी का मन बिगड़ गया ये दूसरा दृष्टिकोण असल में सलाह जो अपने से बड़े हों विदंती हों बुद्धिमान हों उनकी मानना चाहिए नीच की सलाह नहीं मानना चाहिए तो दशरथ ने कैके की बात माने और ही मंथरा की बात माने अवधो गांगेयम तदवगतम भोगमधुना विवेक भ्रष्टानाम भवती विपात स्वतमुखा जो विवेक से नीचे गिर जाता है वो गिरता ही जाता है गिरता ही जाता है एक देखो तो पूर्व जन्म के संस्कार की दृष्टि से एक कथा सुनाता सबको एक में मत जोड़ना ये भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होता है एक ही स्त्री ये भी रामायण में वर्णित है वो किसी रामायण में ये कथा है एक की स्त्री उसका नाम था कलहा उसका स्वभाव ऐसा पड़ गया था कि पति जो आज्ञा करे या जो बात कहे उससे उल्टा करे वो कहे कि रोटी बना लो तो बोले कि आज चूल्हे नहीं जलेगा और बोले स्नान कर लो बोले आज नहाने का भूत हर बात में पति की बात को काटती जाए काट दी जाए तो वो हुआ बड़ा दुखी हर कर्म सब घर के दुख हो गए आज देवता की पूजा हो नहीं होगी श्राप्त श्राप का नहीं होगा वैसे आपको मालूम है श्राप करने से अपने वंश की जो संस्कृति है वो बन गिर जाती और देवता की पूजा करने से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है और ऋषि की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है ईश्वर की पूजा करने से सब में सद्भाव रहता है और आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त होने पर व्यवहार में सर्व समता की प्राप्ति हो जाती है तो उसके घर में कुछ नहीं हो गया मेरे गुरु मित्र के पास गया उसने कहा क्या करे उसने कहा कि देखो तुम अब विपरीत तरीके से उसको आज्ञा करो तो उसने ये कथा रामायण में है ना इसमें नहीं है तो उसने अपनी पत्नी से आके कहा कि वो हमारा मित्र जो है वो बहुत बुरी प्रकृति का है हमने तो निश्चय कर दिया है कि उसको अपने घर भी भोजन के लिए नहीं बुलाएंगे तो बोली करे वो तो बहुत अच्छा है उसको तो हम आज ही बुलाएंगे भोजन कराने के लिए काम बन गया था फिर श्राद्ध का दिन आया तो बोले की हम अब पितर वितर नहीं मानते हैं श्राद्ध करेंगे न ब्राह्मण खिलावेंगे वो बोले कि हमने तो पहले से न्योता नहीं रखा और सारा ब्राह्मण आज कर महाराज ऐसे ऐसे काम करने लगा अब तो उसकी मन की बात होने लगी बोले हम गंगा स्नान नहीं करेंगे काट करना पड़ेगा काट हम पूजा नहीं करेंगे तो तुम्हें जरूर करना पड़ेगा ऐसे और उसके स्वभाव का उपयोग किया अब एक दिन था पितरों का श्राद्ध तो बोले हम नहीं करेंगे मैं करना पड़ेगा ब्राह्मण नहीं खिलाना खिलाना पड़ेगा वो महाराज करते करते उसको ये बात भूल गई एक बार हाल में नहीं रहा उसने कहा कि जो मैंने पिंडदान किया है इसको ले जा करके पवित्र जल में डाल दो अब जो उसने कहा कि पवित्र जल में डाल दो तो उसको ले जाकर के गंदे तनावे में डाल दिया और हाल हाल हाल भी क्या पति बोला कि तुमने बहुत ठीक किया बहुत ठीक किया हाँ ये तो बस बनाने में ही डालने लायक चीज थी ऐसे जो बोला तो दौड़ के कूद पड़ी बनाने में और पिंड को निकाला बोले नहीं अच्छी जगह नहीं डालना तो जाके धो धा के साफ करके उसको तीर्थ में डाल दिया अब महाराज एक ब्राह्मण वैष्णव उसके घर में आए उसने कहा इनको हम नहीं खिलाएंगे तो नहीं खिलाना पड़ेगा ऐसे ऐसे बात हुई अंत में उस वैष्णव ने तुलसी पर भगवान का नाम दिया पति ने कहा नहीं नहीं नाम नहीं लेना तुम उसने कहा आप लेंगे तो तुलसी मत खाना अगर खाएंगे पूजा मत करना अगर करेंगे अब वही जो है वो बाद में भगवान के नामोच्चारण के प्रताप से कैके ही हो गई पर वो कन्हा बने का संस्कार उसके भीतर जो था हाँ, हाँ, वो बैठा हुआ था ये कथा भी किसी रामायण में है तो इस तरह से अब कई महाराज सुनाया मंत्रा ने उसको कि तुमने पहले देवासुर संग्राम में जो दशरथ के रथ के दुर्वे की चील टूट गई थी उसमें अपना हाथ डाल दिया था तुमने हाँ, और उन्होंने तुमको वरदान दिया था तो अब वो वर लेने का समय तुम्हारे जीवन में आ गया है तुमने पहले हमको सुनाया था इसलिए तुम कोप भवन में चले जाओ राजाओं के घर में महाराज कोप भवन बना रहता हमने देखा जाके एक मैंने पूछा ये क्या है तो उनकी श्रीमती की रोटी हुई थी उसने तो कोप भवन में थी न खाए न पिए न उठे बोले महाराज आप तक श्रद्धा करती है आप चलो तो उनको जाएगी ना हाँ, हाँ। तो मैं कोप भवन में घुस गया हाँ, उनके साथ बहुत लेखक जो उसने गंदर बंदर को किया फिर मैंने उसको समझाया भाई हमको कुछ खिलाओ खिलाओ उसको हाँ, तो उठ गई काम तो बन गया पर भूख भवन होने की प्रथा पहले थी जो तो महाराज मंथरा ने उसको सिखाया कि कैसे भूख भवन करना चाहिए अब कई कई तो उसी की बात को सच्ची माने बोले कि अरे तू देखने में तो तेरी मेरी है लेकिन तेरी बुद्धि इतनी अच्छी है यदि मेरा बेटा भरत राजा हो गया तो सैकड़ों गांव में तुमको दूंगी और वो कोप भवन में गई धरती पर जाकर धोल सो गई और मेरा कपड़ा पहन लिया भूषण इधर उधर फेंक दिया और पूजा अपने घर चली गई इससे टिप्पणी की है अध्यात्म रामायण के ग्रंथकार ने जीवोत्यंत हो भी सगुणाचारान्वितो वासवा नीतियों विधिवाद देशिक परो विद्या विवेकोत्सवा दुष्टानामति पाप भावित धिया संगम सदा से भजे तदबुद्धा पर भावितो ब्रजति तत् साम्यम क्रमेण स्फुटम इनकी इस पर टिप्पणी ये है कि बिल्कुल साफ है कि चाहे मनुष्य धीर हो दयालु हो सदगुणी हो सदाचारी हो नीतिज्ञ हो गुरु का सेवक हो धर्म का रक्षक हो विवेकी हो फिर भी यदि दुष्ट पुरुषों का अत्यंत संग करेगा तो जरूर वैसा ही हो जाएगा और उनकी बुद्धि दुष्टों की बुद्धि उसकी बुद्धि पर आदमी हो जाएगी और वो भी दुष्ट हो जाएगा इसलिए दुष्ट लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए अतः संग परित्याज्यो दुष्टाराम सर्वदैव ही दुष्संगी केवल स्वास्थ्य जथे यम का इसलिए दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए जिसके हृदय जिसके संग से आपके मन में शंका उदय हो दूसरों को आप पापी समझने लगे अपने से नीच समझने लगे हे समझने लगे कार्य के लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए उसके बाद सबको राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी करने की आज्ञा देकर दशरथ जी ने ये सोचा था कि चल के हम स्वयं ही कहेंगे इसको ये खुशी का समाचार सुनाएंगे तो उसके घर में गए अब वहाँ देख करके बोले अरे ये क्या है रोज तो हम के हमारे सामने आती थी पत्नी बाहर पत्नी का ये धर्म है कि पति जब बाहर से थका मजा काम से काम करके आवे बाहर में जाने कैसा कैसा उसको मिला कौन कौन मिला कहा उसका मन बिगड़ा कहा अच्छा हुआ उसे घर में आ गए तो घर में आने के बाद उसको सुख मिले ये नहीं कि घर में भी कोई लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा हो तो वो घर में आ गए तो।, तो सब जगह उसको सुख सुख मिलता रहे परंतु घर में आने पर निश्चित रूप से उसको सुख ही मिलना चाहिए तब पति का मन ये रहता है कि जल्दी घर पहुंच जाए तो वहाँ जाके हम उस मुस्कान मिलेगी प्रेम भरी किस्मत मिलेगी खाना पीना मिलेगा स्वागत सत्कार होगा फिर घर में लौटते समय ये सोच के आगे कि हमको तो वहाँ जाने पर सुख मिलेगा तो दशरथ जी तो ये सोच के आए थे लेकिन देखा कि यहाँ जो कभी नहीं हुआ वो देखने को घर में मिल रहा है पूछा उन्होंने क्या हुआ तब दासियों ने बताया कि आज तो श्रीमती जी कोट भवन में है धरती पर सो रही है पलंग सो दिया है अब जाके उन्होंने उसको पकड़ा तो देवी तुम ये क्या कर रही हो यदि तुम्हारा अपमान किसी ने किया हो चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो देवता हो तो मैं उसका उसको दंड दूंगा उसका दर्द करूंगा तुम्हें प्रसन्न करने के लिए जो कुछ करना हो वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे वश में हूँ जिसका भी एक अंत है यदि प्रेम से कोई उठे पहले तो उठने की एक बात आपको सुना दे यदि ये विश्वास को सामने वाला हमको मनावेगा तब तो उठना चाहिए नहीं तो रुकने से और अपमान नहीं होगा तो जिसके प्रेम पर इतना विश्वास हो कि ये रुकने पर हमको मनावेगा उसी के रुकना चाहिए तो दूसरी बात यह है कि अपने सुख स्वार्थ के लिए नहीं रुकना चाहिए कि हमको जेवर चाहिए हमको कपड़ा चाहिए हमको ये चाहिए वो चाहिए रूठना चाहिए उसके सुख के लिए कि तो उसने ठीक भोजन नहीं किया तो बीमार पड़ जाएगा तो उसने अपने कपड़े ठीक नहीं बनवाए जिससे रूठना उसकी भलाई के लिए रूठना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं रूठना चाहिए परंतु सही सही का जो रूठना था वो तो बिल्कुल गलत था आ, हाँ, उसने दशरथ ने कहा कि कहो तो किसी धनी को गरीब बना दे और किसी गरीब को धनी बना दे एक क्षण में तुम्हारे दुश्मन से बदला ले लें और तुम्हारे लिए प्राण छोड़ लें और उसके बाद बोले कि मैं राम की सौगंध खा के करता कहता हूँ जैसे तुम्हारी भलाई हो वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ वैसे तो रुकना यदि सामने वाला कह दे कि हमसे गलती हुई और माफ करो तो इसके बाद सारा अपमान जो है वो टूट जाना चाहिए यदि सामने वाला कह दे कि हमसे गलती दूर दूर भी कह दे तब भी उसको सही मान लेना चाहिए और मान करो कह दे तो तुरंत मान छोड़ देना चाहिए प्रणाम तो माना यदि कोई हाथ जोड़ ले माफ करो कह दे अपनी गलती कबूल कर ले तो उसके बाद मान नहीं करना चाहिए नहीं तो मान छुड़ाने का कोई उपाय ही नहीं रहेगा ना रास्ता बंद हो जाएगा तो वो तो मान नहीं रहेगा दुश्मनी हो जाएगी या जिंदगी भर के लिए हमको उससे दुश्मनी करनी है जब जिंदगी भर के लिए दुश्मनी नहीं करनी है तो कहीं न कहीं मानने का रास्ता भी तो होना चाहिए परंतु कहते ही तो ऐसे मानी नहीं जब उन्होंने तीन बार राम की सौगंध खाई शपथ करी तब उसने कहा कि अच्छी बात है आप तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ है और राम की शपथ खा करके कहते हैं तो मेरी यात्रा आप सफल कीजिए आपने पहले हमको दो बार दिए हैं उनमें से एक दिन मैं कहता हूँ कहती हूँ कि तत्काल भरत को राजा बना दिया जाए यही जो राम के लिए राम के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है उसी से भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा पर मैं ये चाहती हूँ कि रामचंद्र दंडकारण्य में जाए मुनि देश में रहें जगा बलकल धारण करें चौदह बरस रहें उसके बाद उनकी मर्जी हो तो घर लौटे और मर्जी न हो तो मत लौटे और ये भी कह दिया पुनराया बने बात पुष्पयम दूसरी बात यह है कि इस काम में देर नहीं होनी चाहिए कल प्रातः काल ही जाने चाहिए यदि विलम्ब हो जाएगा तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी आपके प्रतिज्ञ बनते हो देखना है कि आज तुम्हारी प्रतिज्ञा सच्ची होती है कि नहीं दशरथ जी को बेहोश बेहोश होकर के गिर पड़े फिर आप पूरी तक तो कहीं तुम तो हंसी को नहीं कर रहे हो पति पत्नी कभी कभी आपस में विरोध भी करते हैं तो हमारे प्रेम की परीक्षा के लिए कि राम पर हमारा कितना प्रेम है तुम तो जानती हो तो आज मैं उससे विचलित हो जाता हूँ क्या ये देखने के लिए तुम हमारी परीक्षा तो नहीं दे रही हो और यदि ये सच्ची सच्ची है तो मैं तो मर जाऊंगा तुम विधवा हो जाओगी अपने विधवापन का बदलाव तुम मांग रही हो देखो रात को तुम्हें कौशल्या देगी बढ़ करके समझते हैं इस समय तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और हाँ। एक दूसरी बात है कि यदि सच्ची बात हो तो हम भरत को राजा बना देते हैं लेकिन राम घर में ही रहे इनको जंगल में क्यों भेजती हो मेरे ऊपर अनुग्रह करो तुमको राम से कोई भय नहीं है अब तो दशरथ की आंखों से घर घर आंसू गिरने लगे और कई कई के चरण पर गिर पड़े अब तो महाराज कहते कि आप लाल लाल बोले तुम ध्यान को पागल हो गए हो क्या इस तरह की बात करते हो तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बहाने बना रहे हो सुन लो हमारी प्रतिज्ञा तुम अपनी प्रतिज्ञा सच करो कि मत करो मैं अपनी प्रतिज्ञा सच करूंगी मैं सबसे संभव बनम नगर से जगह चंद्र प्रभावत काले बचपन के श्लोक हमको याद है तो क्षीर दुखता की जगह चीर दुखता याद हो गया है नारायण वो कहते हैं कि यदि प्रातः काल रामचंद्र बन में नहीं जाएंगे मृग छाला पहन के और चीर पहन के तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी या जहर खा लूंगी और तुम्हारे सामने दुनिया में कहते हो कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और राम की तुमने सौगंध खाई है अब अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या करो और नरक में जाओ अब तो महाराज राजा को बड़ा दुख हुआ वो बेहोश हो गए इस तरह सारी रात बीत गई प्रातः काल बंदी लोग दान करने लगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब सब माल के भीतर आ गए और आनंद ध्वनि होने लगी मंगल ध्वनि होने लगी श्री बालक वृद्ध सबको तो बड़ी उत्सुकता की शिकल राम का राज्याभिषेक है सर्वावरण संपन्ना पीताम्बरधारी रामचंद्र का कल हम दर्शन करेंगे और देखेंगे हाथी पर करके अभिषिक्त रामचंद्र आ रहे हैं और स्मितानम मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर खेल रही है वे सत्र धारण किए हुए हैं सब लोग यही मना रहे थे कि कब प्रातः काल होगा तो अब यहाँ तो राजा उठे ही नहीं सो करके लोगों के मन में बड़ी चिंता हुई कि क्या हुआ इसके बाद सुमंत जो है वो धीरे से राजा के पास गए और जाके वर्षापन किया बधाई हो महाराज बधाई हो जय हो जय हो नमस्कार किया देखा दशरथ बड़े दुखी हैं कई ने कहा कि रात में राजा को नींद नहीं आई है और राम राम राम ऐसे बोल रहे थे जा करके तुम जल्दी राम को बुलाए ले आओ वो तो महाराज रानी थी ये कुछ बताया नहीं कि रात में क्या हुआ है जल्दी से राम को बुला के ले आओ अब तो महाराज सुमंत ने कहा कि महाराज को कोई आज्ञा नहीं दे रहे हैं मैं कैसे जाऊं तो राजा ने कहा कि तुम जाओ राम को मैं देखना चाहता हूँ शीघ्र से शीघ्र यहाँ ले आओ अब महाराज उधर सुमंत्र के राम मंदिर में और बोले कि रामचंद्र आप जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास चलिए अब रामचंद्र लक्ष्मण के साथ और सारथी जी के साथ वहाँ गए वहाँ देखा कि आदि बड़े बड़े महापुरुष खड़े हैं लेकिन किसी से उन्होंने बात नहीं की सीधे पिताजी के पास चले गए अब जो महाराज रामचंद्र को उन्होंने देखा हाथ फैलाया दशरथ तो ने कि इनको अपने हृदय से लगा लें लेकिन और लेकिन वो तो जिस पड़े हाय हाय राम ने जाके झटपट दशरथ जी को अपनी बात में भर करके उठाया नारायण और अपनी गोद में ले लिया राजा को मूर्छित देख करके सारा अभिनिवास हाय हाय करने लगा अब वशिष्ठ ने जो बाहर से सुना कि भीतर तो रोना पीटना हो रहा है तो तुरंत वहाँ आ गए अपने आप घुस गए और राम से पूछा कि राजा के दुख का कारण क्या है राम ने पूछा कि माता जी हमको भी नहीं मालूम है कि राजा की क्या दुख है तुम बताओ इसका क्या कारण है तो जबी हमारे पिता की कोई आज्ञा होए उनकी भलाई होए तो आप उनको जरूर बताइए कैकई जी ने कहा कि आपका कुछ कर्तव्य उपस्थित हुआ है जिसमें राजा की भलाई है तो राजा ने कोई प्रतिज्ञा कर रखी है उसको आप सत्य कीजिए और राजा को सत्यवादी बनाइए और बताया कि राजा ने उनको दो बार दिया था तो ये ये हमने मान लिया है उन्होंने हमको दे दिया है अब उनका बल दान सच्चा हो जाए और राजा सत्य प्रतिज्ञ हो जाए ये बात तुम्हारे हाथ में है और उनसे खुद कहने में उनको शर्म आती है तो इस समय सत्य के फंदे में दशरथ फंस गए हैं तुम उनकी बात को सच्ची करो और अपने पिता की रक्षा करो असल में पुत्र कहते ही उसको है और तो महाराज कहते ही बिल्कुल ज्ञानी की तरह बात करे कि पुत्र तो कहते उसको है जो अपने पिता को नरक से बचावे अब तो जैसे राम के छाती में किसी ने कुछ धो दिया हो वो बोले की देवी आप ऐसा क्यों बोलते हैं मैं अपने पिता के लिए अपनी जिंदगी दे सकता हूँ उनके लिए उनकी रक्षा के लिए मैं जहर पी सकता हूँ सीता को छोड़ सकता हूँ कौशल्या माता को छोड़ सकता हूँ राज्य को छोड़ सकता हूँ असल में पुत्र तो वो पुत्र है जो पिता की आज्ञा न होने पर भी उसके मन का काम कर रहे जो बोलने पर करता है वो तो मध्यम पुत्र है और जो कहने पर भी नहीं करता है वो तो मल है इसलिए हमारे पिता ने हमारे लिए जो कुछ कहा है उसको मैं सच सच बोलता हूँ मैं करके छोड़ूंगा राम जो नाभिभावते सत्यम सत्यम करूंगी वो मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को बिल्कुल सच्ची करूँगा क्योंकि रामचंद्र किसी भी बात को दो बार नहीं कहते एक बार मैंने कह दिया कह दिया तो नारायण अब तो राम की ये प्रतिज्ञा सुन करके कहते ने कहा कि राम तुम्हारे अभिषेक के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है उसी से धर्म का राज्य अभिषेक हो जाए और दूसरे बलिदान से तुम तीर धारण करके तीर वस्त्र आज ही पिता की आज्ञा से वन में चले जाओ चौदह बरस वहाँ रहना भविष्य का भोजन करना यही तुम्हारे पिता का कर्तव्य कर्म है और राजा अपने मुंह से तुमको ये बात कैसे कहेंगे श्री रामचंद्र ने कहा कि भरत राजा हो इससे बढ़ करके हमारे लिए और क्या खुशी की बात होगी आज ही मैं दंड का रहने में जाता हूँ जाने के लिए तैयार हूँ पर राजा हमारे महाराजा पिता क्या हमको ऐसा पुत्र समझते हैं कि मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा या दुखी हो जाऊंगा वो हमसे क्यों नहीं कहते हैं अब तो दशरथ ने उनसे कहा बड़े दुखी भाव से दशरथ ने कहा कि देखो राम मैं स्त्री के पराधीन हो गया हूँ और मेरा हृदय रास्ते से भटक गया है मैं कुमार में जा रहा हूँ तो यदि राजा ऐसा हो जाए कि वो स्त्री के वर्ष में हो जाए और पागल हो जाए और कुमार जानू हो जाए तो आ, लोगों को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो उसको जेल खाने में पकड़ के डाल दें तो तुम राम मुझे खतड़ी बेड़ी डालकर पकड़ लो और हमको जेल खाने में डाल दो इसमें तुमको कोई पाप कोई अपराध नहीं लगेगा और मुझे भी प्रतिज्ञा तोड़ने का झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा एक फिर राजा विलाप करने लगे देखो वैसे राजा ने बात को दूसरे ढंग से कही है परंतु ये बात उन्होंने मान ली कि कई कई ने जो कुछ कहा है वो सच है और मैं इसको मना नहीं कर सकता अब तुम यदि चाहो तो हमको जेल खाने में डाल दो और तुम राज्य करो अब तो महाराज हा राम हा जगन्नाथ हा प्राण बल्लभ मुझे अब विलाप ये करते हैं कि तुम मुझे छोड़ करके वन में क्यों जाते हो अब तो महाराज राम को हृदय को हृदय से लगा करके रोने लगे राजा दशरथ और उनकी विमृत्य नयने राम पितु सजल पाणिना ये विमृत्य करिए यहाँ नारायण उन्होंने अपनी आंखू को दिए आंख से और रामचंद्र ने उनके आंखू पहुँच दिए उनको बड़ा आश्वासन दिया आप दुखी क्यों होते हैं मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी करके और फिर अयोध्या में लौट जाऊंगा आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में रहने से हमको राज्य से भी कोई गुणा सुख मिलेगा आपका सत्य पालन भी होगा देवताओं का काम भी बनेगा कैसी प्रसन्न भी हो जाएगी हमारे जीवन में बड़ा गुण है बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होगा राक्षसों का बल प्राप्त होगा तपस्या होगी तो माता जी आप किसी प्रकार से दुखी न हो और ये सारे के सारे जो हमारे अभिषेक के सामान है ये खरब के अभिषेक में लगाए जाए और मैं माता को आश्वासन देकर जानकी को मनाकर फिर आता हूँ और आपके चरणों की वंदना करके तब मैं घर में जाऊंगा अब उन्होंने परिक्रमा की कौशल्या के पास चले गए उधर कौशल्या जी प्रातः काल से ही उठ करके राम का हित हो इसके लिए भगवान की पूजा कर रहे थे होम हो रहा था ब्राह्मणों को दान किया जा रहा था विष्णु भगवान का ध्यान कर रही थी मौन अंत समेतम घन प्रकाशम निरस्त सर्वातिशय स्वरूपम विष्णु बहुत तो ऐसी हो गई थी कि अपने हृदय में वो एक प्रज्ञान फल प्रकाश का स्मरण कर रही थी और सारी विशेषताओं को भूल गई थी आनंदमय परमात्मा का हृदय मंदिर में ध्यान कर रही थी उनको तो राम की याद भी नहीं थी और संध्या जी ऐसे भगवान के स्थान में मत हो रही थी अब तो नारायण सुमित्रा ने देखा कि कौशल्या तो ध्यान में है और रामचंद्र आए हैं तो सुमित्रा ने उनको जगाया राम नाम सुन करके उनकी दृष्टि बाहर को हुई देख करके उन्होंने हृदय से लगाया उनका सिर सुन लिया उनके शरीर का स्पर्श किया और बोले की विकास उनको भूख लगी होगी कुछ खाओ पियो रामचंद्र ने बताया कि माता मैं भोजन करने के लिए नहीं आया हूँ हमको जल्दी से जल्दी दंडकारण्य जाना है हमारे सत्य प्रतिज्ञ सत्य संत पिता ने कई को वरदान देकर मुझे दंडकारण्य का राज्य दे दिया है चौदह वर्ष में जा करके वहाँ रहूंगा मुनि देश में और फिर तुम्हारा दर्शन करने के लिए आऊंगा तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करना अब तो न सुनते ही कौशल्या जी को थोड़ा उद्वेग हुआ बेहोशी आई फिर होश में आई और बोले की राम यदि तुम घर में जाते हो तो ठीक है परंतु मुझे भी अपने साथ ले चलो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती है क्या गाय अपने नंगे से बछड़े को छोड़ करके अलग रह सकती है तुम आ, मैं तो आ, तुम्हारी माता हूँ तुम्हारे बिना क्षण भर भी जीवित रही रह नहीं सकती यदि राजा भारत पर प्रसन्न है और उनको राज्य देना चाहते हैं तो तुम्हें बर्बाद के लिए क्यों भेज रहे हैं कई देवी को राजा बरदान दें उनको अपना सर्वस्व दे दें इससे हाँ, हमारा क्या बनता बिगड़ता है वो तो तुम्हारे पिता हैं गुरु हैं लेकिन मैं माता हूँ तुम्हारी पिता से भी बढ़कर इसलिए जब दशरथ की केवल आज्ञा हो तो मैं तुमको रोकती हूँ कि मत जाओ और यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे और राजा दशरथ की आज्ञा मानोगे तो मैं अपने प्राण हो दूंगी अब महाराज जी सब बात हो रही थी लक्ष्मण ने भी सब सुना तो बड़ा क्रोध आया उन्होंने कहा कि हम तो खत्म कर देंगे सबको ये हमारा जो बात है ये पागल हो गया है इसका मन भटक गया है और कैसे के वर्ष में हो गया है मैं इसको बात करके ये खाने में डालता हूँ और भरत और उसके सगे संबंधी मामा जी सबको मैं मजा के खाऊंगा मार डालूंगा आज दुनिया के लोग जो है वो मेरे सौद्य वीर को देखे मैं किस तरह दुनिया को खत्म करता हूँ और राम आप राज्य पर अभिषिक्त हो जाए और मैं भारी होकर के सब विघ्नकारियों को मारता हूँ तो रामचंद्र ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया बोले लक्ष्मण तुम क्या नहीं कर सकते तुम तो मुझसे मेरा हित चाहते हो जो कुछ तुम कहते हो तो सब सच है परंतु उसका समय नहीं है ये जो जिस राज्य के लिए तुम हमको कहते हो इस राज्य के लिए हम पिता को जेल में डालें और भरत को मार डालें यदि ये राज्य सच्चा होता और हमेशा बना रहता यदि देश सच्चा होता और ये जीतने वाली दुनिया भी सच्ची होती तो उसके लिए ये सब परिश्रम करना सफल होता परंतु ये जो दिखाई पड़ती है दुनिया तो वो तो बदलती है संसार माने होता है संस्कृत में जो सरकता जाए सरकता जाए आज संसरणशील जो हो गए संसरणम संसार जो सरक जाए आप पकड़ के रखो और आपकी मुक्ति में से निकल जाए उसका नाम होता है संसार और जिसको आप कितना भी छोड़ना चाहें और छोड़ न सकें उसका नाम होता है आत्मा उसका नाम होता है परमात्मा एक परमात्मा ही ऐसी वस्तु है जिसको आप कभी छू नहीं सकते और संसार ऐसी वस्तु है जिसको आप कभी पकड़ करके रख नहीं सकते ये संसार के जो भोग है ये तो जैसे आकाश में बादल में बिजली चमकती है वैसे संकल है और आयु की दशा ये है लक्ष्मण कि जैसे जलते हुए कवे पर पानी की बूंद गिरे और खत्म हो जाए ऐसा ही जीवन है देखो संसार के तो ये दशा है कि जब एक सांप मेढक को पकड़ लेता है अपने मुंह में और उसको निगल रहा है दूसरी ओर मेढक देखता है कि सामने से मक्खी हो रही है तो मुंह खोल के उसको पकड़ के खाना चाहता है इसी प्रकार ये संसार जो है ये काल सर्प से ग्रस्त है और स्वयं स्वयं तो मरता जा रहा है क्षण क्षण इसकी आयु की जा रही है और ये दूसरों का भोग करना चाहता है बड़े परिश्रम से ये कर्म कर करके ये शरीर के भोग इकट्ठे करता है परंतु ये शरीर बिल्कुल पराया है ये तो महान नदी का पूर्वा है हड्डी मांस पी काम विष्ठा मूत्र ये सब इसमें है इस शरीर के द्वारा कौन सा भोग भोगा जाता है जैसे प्याऊ पर पराये लोग मिल जाते हैं वैसे जीव की यात्रा में ये पिता माता पुत्र भाई बंधु मिल जाते हैं ये जैसे नदी में अलग लड़ियां बहती चली जा रही हो और कहीं कहीं मिल जाती हैं इसी प्रकार ये संसार में मिलना जुलना है लक्ष्मी तो ऐसी चंचल है जैसे अपनी परछाई और ये जवानी ऐसी है जैसे पानी की बूंद और ये संसार के सुख ऐसे हैं जैसे स्वप्न लेकिन मनुष्य अभिमान करके बैठ जाता है ये हमारा है ये हमारा है ये संसार स्वप्न के समान है रोग आदि के संकुल है गंधर्व नगर के समान है मूल लोग इस बहती हुई चीज को तरक्की हुई चीज को सच्ची समझ लेते हैं और सुनते हैं ये हमेशा बना रहेगा और भागवत में जो खास पर आया है कि आदमी भोजन बना करके तैयार करता है सुबह बनाता है शाम तक वो बाकी पड़ जाता है सड़ जाता है और शाम को बनाता है तो सुबह बाकी हो जाता है उसी भोजन से ये शरीर बनता है और इसके बारे में वो सोचता है ये हमेशा बना रहेगा जब इसका मूल उपादान भोजन ही सड़ जाता है और बिगड़ जाता है और दूसरे दिन खाने लायक नहीं रहता तो उसी अन्न से संपुष्ट ये शरीर उसी से बना हुआ ये शरीर कैसे पक्का रह सकता है दिन दिन सूर्योदय होता है लोग कहते हैं हमारी एक दिन उम्र बढ़ गई बढ़ नहीं गई एक दिन तुम्हारी उम्र घट गई दुनिया में रोज दुर्माता पास आता जा रहा है रोज मौत पास आती जा रही है लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ता लोगों को ये मालूम पड़ता है कि वही रात है तो वही दिन है ये मूर्ता है ये तो काल बड़े देर से चल रहा है बहता पानी फिर लौटता नहीं बहती ज्योति फिर लौटती नहीं बहती हवा फिर लौटती नहीं इसी प्रकार ये शरीर की स्थिति है रोग पर निरंतर प्रहार कर रहे हैं बादल की तरह बुढ़ापा सामने खड़ी है और मृत्यु तुम्हारे मरने के दिन की प्रतीक्षा कर रही है लोग देह में मैं बना कर बोलते हैं कि मैं राजा हूँ दुनिया में मैं बहुत मशहूर हूँ उनको मालूम नहीं पड़ता है कि ये यदि धरती में डाल दिया गया करी तो कीड़ा हो जाएगा चिड़िया खा जाएगी है ना कुत्ते इधर खा जाएंगे आग में जोड़ने पर इसको ये रात हो जाएगा ये गंदी गंदी चीजों से बना हुआ बीमारी परिणामी ये शरीर जिसमें पिछा मूत्र वीर जो रक्त ये सब भरा हुआ है ये अपना आत्मा नहीं है लक्ष्मण जिस शरीर को मैं मानकर तुम संसार को जलाना चाहते हो नारायण हाँ, उनकी ये दशा है जो लोग इस देह को मैं मान लेते हैं उनके जीवन में सारे दोष आ जाते हैं मैं देह हूँ इस बुद्धि का नाम अविद्या है मैं देह नहीं हूँ चिदात्मा हूँ इस बुद्धि का नाम विद्या है अविद्या से मनुष्य संसार में भटकता है विद्या से संसार से छूटता है इसलिए मनुष्य को हमेशा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए असल में दुश्मन दुनिया में कोई नहीं होता काम क्रोध ये जो अपने मन के भीतर है यही सबसे बड़े शत्रु हैं और इन सब में सबसे बड़ा विघ्न है क्रोध जब क्रोध आता है तब आदमी की आंख लाल हो जाती है मुंह काला पड़ जाता है और पाँव जम जाती है हाथ पांव कांपने लगते हैं सबसे बड़ा विघ्न मनुष्य के जीवन में ये क्रोध है इसी के पक्ष में होकर के मनुष्य अपने पिता भाई सबको मार डालता है मन में जितना ताप है वो क्रोध की जलन है इसलिए लक्ष्मण तुम क्रोध को दो असल में शत्रु न भरत है न बसरत है क्रोध ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है कृष्णा नदी बैतरणी है संतोष नंदन बन है और शांति कामधेनु है इसलिए तुम शांति का आश्रय लो तुम्हारे लिए दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि इनसे विलक्षण है आत्मा शुद्ध स्वयं ज्योति निर्विकार निराकार जब तक हम अपने को हड्डी मांस से एक करके गंदी चीज अपने को मानते हैं तभी तक दूसरों के ऊपर काम क्रोध का उदय होता है तभी तक मौत और मौत के भाई सताते हैं इसलिए तुम अपने आप में शरीर से अपने को विलक्षण देखो तुम बुद्धि से भी खड़े हो सबके साथ सब बदलाव करो जो कुछ प्रारब्ध से सुख दुख आवे उसको भोग लो प्रवाह जो कर्तव्य कर्म है उनको करते करो कहीं भी नारायण बाहरी दृष्टि से यदि कर्तृत्व भी धारण कर लोगे तब भी उसमें कोई दोष नहीं है भीतर से तुम शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो कर्म का तुमको ले लेख नहीं है रक्षण तुम अपने मन में इसकी भावना करो संसार का कोई दुख तुमको नहीं होगा और माता कौशल्या जो कुछ मैंने लक्ष्मण से कहा है क्योंकि माता को सीधे तो उपदेश कर नहीं सकते तो लक्ष्मण को निमित्त बना करके छोटे भाई को तो उपदेश कर सकते हैं ये भी राम की राम की एक महिमा है उनका शिष्टाचार है कि माता को उपदेश नहीं करते हैं वो भाई को उपदेश करते हैं और कहते माता जी आप इन बातों का ध्यान करना और मैं समय पर आपके पास आऊंगा आपको कोई दुख नहीं होगा देखो जो लोग अपने कर्म के अनुसार संसार में घूम रहे हैं वो एक साथ कभी रह नहीं सकते नदी में लकड़ी गिरती है और बच जाती है ऐसी दशा है अरे चौदह वर्ष क्या होते हैं वो तो आगे क्षण के समान बीत जाएंगे मैया से यही देखो कि हमारा बेटा हमारे हमारे पास है आ, हाँ, मैं दूर के सोचे सोचो ही मत यदि तुम लोग सुखी रहोगे तब तुम तो मैं वन में सुखी रहूंगा और यदि तुम लोग दुखी हो जाओगे तो वन में जाकर मैं भी दुख हो जाऊंगा तो रामचंद्र माता जी के चरणों में गिर गए तो संध्या ने उठा के अपने हृदय से लगाया आशीर्वाद दिया बोले चार देवता बन में तुम्हारी रक्षा करें और सोते हुए चलते हुए खड़े हुए बैठे हुए बारम्बार कौशल्या तो को अपने हृदय से लगाने लक्ष्मण हर्ष से भर गए हमारे भाई ने हमारे लिए उपदेश किया बोले कि मेरे हृदय का संशय मिल गया और तुमने भैया हमारा कल्याण कर दिया मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा हमको आज्ञा दो तो यदि हमको अपने साथ चलने की आज्ञा नहीं दोगे तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा तो रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण को आज्ञा कर दी इसके बाद सीतापति भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के पास गए वो तो मुस्कुराती हुई पूर्वाभिभाषण भगवान राम घर में आवे तो मुस्करा के पहले उनकी ओर देखें और अपनी ओर से बातचीत शुरू करें ये नहीं कि पहले ये बोलेंगे तब हम बोलेंगे ऐसे मान करके न बैठे अपनी ओर से ही महाराज सुस्मित भाषणी मुस्करा करके पहले बातचीत करें अब तो महाराज जो जल आए उनके लिए उनके उनके चरण धुलवाए और देखा अकेले कैसे आए हैं इनके साथ सामन क्यों नहीं देना क्यों नहीं बाजे क्यों नहीं बज रहे हैं दिलीप सिर पर क्यों नहीं है सीता जी ने जब पूछा तो रामचंद्र भी मुस्कराते हुए करने लगे कि प्रिय हमारे पिताजी ने हमको दंड का रहने का राज्य दिया है हाँ, बहुत दिनों से सुना पड़ा था राक्षस लोग वहाँ उपद्रव कर रहे थे तो उसको ठीक करने के लिए वहाँ का राज्य हमको दिया है तो मैं वहाँ के राज्य का पालन करने के लिए शीघ्र ही वन में जा रहा हूँ आज ही जा रहा हूँ तुम अपनी सास के पास रहना और मेरी माता की सेवा करना न मिथ्यावादिनो वयम हम झूठ कभी नहीं बोलते ये नहीं सोचना कि मैं हंसी कर रहा हूँ की परीक्षा ले रहा हूँ हमने जो प्रतिज्ञा की है वो बिल्कुल सच्ची होगी अब तो सीता जी डर गयी ऐसा आपसे क्या अपराध हुआ कि पिताजी ने बल का राज्य आपको दे दिया तब बता दिया कि कैसे प्रसन्न है पिताजी भरत को उन्होंने राज्य दिया है चौदह वर्ष वन में रहने के लिए कई कई की सलाह से पिताजी ने हमको कहा है तुम जिक्र मत करना आओ तुम जाते हैं अब तो जानती भी होगी कि यदि तुम वन में जाओगे तो मैं आगे आगे चलूंगी मैं तुमसे पीछे थोड़ी करूंगी पर ऐसी चाहिए हो पाना जब तुमको वन में जाना है तो आगे आगे मैं और पीछे पीछे तुम मेरे बिना मुझे छोड़ करके तुम्हारा घर में जाना उचित नहीं है अब तो रामचंद्र बड़ी महाराज अपनी प्रिय बाजनी प्रिया की बात सुनकर प्रसन्न हो गए बोले की मैं तुमको घर में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वहाँ बाघ होते हैं सिंह होते हैं और राक्षस होते हैं मनुष्य खाने वाले प्राणी होते हैं सुअर होते हैं वहाँ कड़वा मीठा जो कुछ फल फूल मिले तो खा के रहना पड़ता है वहाँ व्यंजन खाने को नहीं मिलेंगे अपूपानी व्यंजनानी विजयंते न माल पूरे खाने को वहाँ नहीं मिलेंगे तरह तरह के व्यंजन नहीं मिलेंगे वहाँ जो फल मिल जाएगा और रास्ता भी कोई सड़क महल का रास्ता नहीं होगा कंकड़ पत्थर वहाँ होंगे कांटे होंगे गुफा गड़बर होगा दम दम माँ मच्छर होंगे तो वहाँ सांप होंगे बिंदु होंगे वो मन तो बड़ा भयंकर है पाँव से चलना पड़ेगा ठंडी गर्मी सहनी पड़ेगी तुम तो, तो भयंकर राक्षसों को देख करके ही प्राण छोड़ दोगी इसलिए तुम घर में रहो अब तुम सीता जी बहुत दुखी हुई अब तो थोड़ा क्रोध आ गया हो जानकी जी को थोड़ा क्रोध आया तुरंत वस्त्रा और फड़कने लग गए और कुछ क्रोध आ गया बोले मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्मपत्नी हूँ और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई नहीं है और मैंने कोई दोष किया नहीं है तुम धर्मज्ञ हो मैं तुम्हारे साथ यदि रहूंगी तो मेरा अपमान वहाँ कौन कर सकेगा मैं फल फूल खा करके रह लूंगी जो तुम खाओगे तुम्हारा प्रसाद खाऊंगी वो हमारे लिए अमृत के समान होगा और उस का ये सब से सब हमारे लिए फूल के बिछौने बन जाएंगे मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी तुम्हारी मदद करूंगी तीन बात है बचपन में एक ज्योति आया था हमारे घर में उसने हमको बताया कि तुम्हें पति के साथ वन में रहना पड़ेगा वो हमको याद है बच्चा सह भविष्य और हमारे ससुर भी सत्यवादी हैं और वो ज्योति भी सत्यवादी हो जाए ऐसा काम आपको करना चाहिए एक दूसरी बात भी सुनो कि मैंने रामायण से बहुत सारे सुने हैं बहुत राम हुए हैं बहुत गीता हुई हैं और उनकी कथा भी मैंने बहुत सुनी है लेकिन संसार में किसी भी त्रेता के कोई भी राम गीता को छोड़ करके तो बन गए मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें बहुत सारा वहाँ काम करना है मेरे बिना वहाँ की लीला कैसे होगी और यदि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मैं तो प्राण छोड़ दूंगी तो रामचंद्र ने कहा कि देवी तुम हमारे साथ चलो और एक बात है तुम्हारे पास बहुत सारा धन है संपदा है देवर है तो ये सब लेके तो नहीं चल सकती हो ना और तुम ये सब दान करो दान कर दो अपने पास कुछ मत रखो ब्राह्मण जो धनम सर्वम दत्वा गच्छा महेवरम अरुंधति को अपने दे दो जो नए नए वस्त्र आभूषण है ब्राह्मणों को दान कर दो गरीबों को बांट दो गौएं जो है वो गरीबों को दे दो दिव्य आभूषण दे दो और जिन ब्राह्मणों के पास कुटुम्ब हो विद्वान हो सदाचारी हो उनको सब बांटो तो सीता जी बहुत आनंदित हुई उन्होंने सब का सब धन बांट दिया अंतपुर वासियों को सेवकों को नागरिकों को ब्राह्मणों को अब लक्ष्मण ने लक्ष्मणों की सुमित्राम लक्ष्मण ने अपनी माँ को ले जाके कौशल्या से मिला दिया कौशल्या जी के साथ तुम रहना और हाथ में धनुष बाण लेकर के राम जी के आगे आगे खड़े हो गए राम सीता लक्ष्मण ये सब के सब दशरथ जी के पास गए श्री राम सहसी दया नृपते गच्छन सनई सानुजना पौराण जान पदान कुतूहल सानंद बुद्धि श्याम काम सहस्र सुंदर बहु कांत्या भाषय पादन्यास पवित्रिता जगतो प्रापालयम तत्पितु राजमार्ग से सीता रामचंद्र लक्ष्मण धीरे धीरे पैदल ही चल रहे हैं पाँव में साधु भी नहीं है लोग बड़े कौतूहल से देख रहे हैं कि आज बात क्या है कि श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण ऐसे नंगे पांव जा रहे हैं कामत पश्चिम ऐसी राजमार्ग जना जिनकी सुंदरता को जिनके स्वरूप को सूर्य चंद्रमा भी देखने को तरसते रहते हैं वही सीता आज रास्ते पर चल रही हैं ये हुआ क्या परंतु सीता रामचंद्र दोनों बड़े आनंद से सबकी ओर देखते जा रहे हैं सानंद नवोदीप मुस्कुराते हुए प्रेम से सबकी ओर देखते हुए यही राम की महिमा है असल में इस बात पर यदि आप ध्यान दें दुनियादार लोग इस बात को भटक जाते हैं कि संसार की परिस्थिति को हम अपने अनुकूल बना लेंगे तब सुखी हो जाएंगे जब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा तब हम सुखी होंगे क्योंकि ऐसा कभी सत्य है किसी का शरीर निरोग हुआ है तो जब आप इस चक्कर में पड़ जाओगे कि हमारा शरीर निरोग हो जाएगा बिल्कुल तब हम सुखी होंगे तो सुख के साथ आपने ऐसी शर्त जोड़ दी कि आप कभी सुखी नहीं हो सकेंगे बोले हमारी कोई बेटी नजर से न देखे हमारी कोई निंदा न करे हम जब चाहे तब बरता हो जब चाहे तब गर्मी पड़े आप ही के मन से सारी दुनिया चलने लगे तब आप खुशी होंगे तो ऐसा तो कभी होगा नहीं तो जो लोग सारी दुनिया को सुधार करके और ये चाहते हैं कि हम खुशी होंगे उन्होंने अपने मन को बिगाड़ दिया तो तू तो राम बजो जग में दुनिया में बरसात आती है गर्मी आती है सर्दी आती है दुनिया बदलती रहती है अपने अपने मुख हैं गुरु को ही बहु को ही लूटा दुनिया के एक मुंह नहीं है हजार मुंह है हो हाँ, बहुमुख को ही लूटा एक महात्मा एक बार जुटे हुए पेड़ गरम माटी और पेड़ पर सिर रखे सो रहा था इतने में गांव की स्त्रियां आई बोले देखो ये साधु तो हो गया है लेकिन आराम अलग है और नरम जमीन पर सोता है मेड़ पर सिर रखता है तकिया लगाता है गद्दा लगाता है बहुत आराम अलग है साधु ने सोचा की बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इनकी टिप्पणी इनकी समीक्षा समालोचना बिल्कुल ठीक है तो वो गरीब पानी भरने और वो वहाँ से उठ करके पक्ष जमीन पर जाके हो गया जहाँ न पेड़ का तकिया था और मैं नरक गई जब वो लौट के स्त्री आई तो बोली अरे देखो ये साधु हो गया लेकिन इसका घमंड नहीं टूटा हम लोगों ने जरा सी बात कर ली और क्या हे गरीब दिखा के है ना अब क्या करे बेचारा मर जाए तो दुनिया के कहने पर संसारी लोग ध्यान देते हैं मनुष्य को अपनी ओर से ठीक रास्ते पर करना सुखी रहने के लिए तो बहुत थोड़ी जरूरत है हो हमारे तो काफी में ऐसा बोलते हैं चना चबेना खाने के लिए तो चना मिल जाए चना चबेना गंग जल पीने के लिए गंगा जल मिल जाए जौ जो सरकार काफी सबक छोड़िए विश्वनाथ दरबार खाने के लिए बहुत थोड़ा चाहिए शर्म मिटाने के लिए या खंड बिताने के लिए बहुत थोड़ा सा कपड़ा चाहिए हमारे एक मित्र है महाराज आपको क्या सुना है बहुत कम कपड़ा रखते हैं तो उन्होंने एक आविष्कार किया है तो क्या आविष्कार किया है कि जब ठंडा ज्यादा पड़ने लगता है तो ये अखबार जो होते हैं ना अखबार उनको अपने शरीर में नीचे भी बिछा दिया ऊपर भी ओढ़ दिया शरीर में लपेट दिया अखबार तो आप पूछेंगे अखबार से कहीं संगमित मिलती है तो आप सच समझो टेलीफोन से टेलीविजन से जितनी खंड मिलती है ना उतनी कागज से नहीं मिलती है क्योंकि कागज में खेत तो हो गए तो उसके भीतर ठंडी हवा प्रवेश नहीं करती है है ना उसी से उसकी गुजर हो जाती है और उनका कहने की आदत डाल लो तो ऐसी दुनिया में कौन सी तकलीफ है जिसको नहीं हो श्री जामनाचार्य जी महाराज ने कहा कि अनादिकाल से अब तक सृष्टि में रहते रहते ऐसा कौन सा दुख है जो मैंने न कहा हो कितनी बार मकान जल गए कितनी बार रोग हो गया कितनी बार लोग अपने बिखुर गए जन मरण हो गया धन हरण हो गया भवन दहन हो गया कितनी कितनी तकलीफें हमको नहीं मिली है सहते सहते सब पार करता हुआ आया तो हमारे लिए नया दुख तो कोई है नहीं और सब कह चुका बात इतनी है कि मैं दुख से हार बना अब तक जिंदा रहा हूँ आगे भी जिंदा रहूंगा मैं दुख के सामने हारू नहीं अच्छा यदि कोई आदमी चाहे कि आकाश में जितने ग्रह वो सब के सब हमारे अनुकूल हो जाए हरिष्ट कारक न रहे तब हम सुखी हो जाए तो क्या नव ग्रह कभी किसी को सुखदायक हो सकते हैं और रामचंद्र को भी एक ग्रह दुख देने वाला था कृष्णचंद्र को भी एक ग्रह दुख देने वाला था कृष्णचंद्र को शत्रु के सामने पराजित होके भागना पड़ा कि नहीं रामचंद्र को बर्बाद हुआ कि नहीं तो नारायण दुख में दुखी न होना दुख आना तो बाहर का काम है और दुख आने पर दुखी न होना ये मनुष्य के भीतर का काम है श्री रामचंद्र भगवान के जीवन में यही बात देखने में आती है आनंद मुद्री आनंद के साथ सब है आप जरा सा ध्यान दें एक बात पर हम आपका ध्यान खींचते हैं श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ जेल खाना माँ बाप जेल में से हो वहाँ जन्म हुआ और जन्म से ही क्या हुआ तो पराए घर में जाना पड़ा गाय चला के जिंदगी बितानी पड़ी जहर पीने को मिला उतना ले आई जहर अजगर के मुंह में जाना पड़ा पेड़ पड़ा अपने हाथ से मामा को मारना पड़ा दुश्मन के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा अपना शहर छोड़ के समुद्र में जाना पड़ा कौन सा दुख है इसमें कौन सा दुख है बाहर से तो कोई दुख नहीं है नारायण भीख मांग जब मथुरा से भगे और प्रवर्तन गिरी पर चढ़ गए साधुओं के आश्रम में जा जाके भिक्षा की रोटी खानी पड़ी नंगे पांव रहना पड़ा आग में जलाए गए फूल पड़े राजधानी पर साल बने हवाई जहाज से हमला किया उनके ससुर के घर को डाकुओं ने लूट लिया और उनके ससुर को मार डाला वही द्वारका में खास द्वारका में भाई बंधु से मन मुटाव हो गया बेटे कोई उनकी बात नहीं मानते थे एक बेटा उनकी बात नहीं मानता था नारायण जदुवंशियों में बड़ा भारी कला था उनके सामने सब सब भर भरा गए आपस में लड़ करके ये सब होता रहा लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर दुख की छाया कभी नहीं आई तो सत्पुरुष का जो काम है वो परिस्थिति बनाकर सुखी होने का नहीं है अपने अंत की बहादुरी से सुखी रहना ये सत्पुरुष का काम होता है जो लोग बाहर की परिस्थिति बनाने लगते हैं वो ईश्वर का अधिकार छीनना चाहते हैं और ईश्वर का अधिकार छीनना चाहते हैं तो उसमें सफलता तो कभी मिलती है आपका अधिकार आपके भीतर है और ईश्वर का अधिकार आपके बाहर है आप नारायण ईश्वर के अधिकार को अपने हाथ में मत कीजिए अपने अधिकार में बरतिए और अपने मन को ऐसा ठीक कीजिए ऐसा ठीक कीजिए अपने मन को कि जहाँ जब जैसे रहे तो वहाँ सुखी रहे श्याम श्याम सहस्रो सुंदर बपू कांत्यादिशोहास ये राम भगवान श्याम है बड़े मधुर सहस्त्र सहस्त्र प्रकार के समान सुंदर इनका शरीर है इनकी अंग से जो कांति निकलती है उससे दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं अपने चरण के विन्यास से संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं इस तरह है भगवान श्री रामचंद्र सीता और लक्ष्मण जी दशरथ जी के महल में गए अब आगे का प्रसंग आप